हंस शुचिषद जसुरंतरिक्षसद होता वेदिषद अतिथिर्द्रोणसद मृषद गरसद ऋतसद अब्जा गोजा ऋतजा अग्रजा ऋतम बृहत शंकराचार्य भगवान ने इस मंत्र का भाष्य करते हुए अंतिम पंक्ति में कहा सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगत नात्म भेद इसी मंत्रार्थ समूचे मंत्र का अर्थ क्या है पूर्ण जगत का सर्वव्यापी आत्मा एक ही है नात्म भेद है जो दूसरा मंत्र का अर्थ ये है लब्बो लगा निचो निचाजितम मृत्यु प्रमुख ये नाम रूप में से जो इसकी सत्य है वो निचोड़ लो ये जो नाम रूप दिखाई पड़ता है ना अलग अलग नाम स्त्री नाम अलग पुरुष नाम अलग मिट्टी नाम अलग पानी नाम अलग आग नाम अलग है उनकी सकल सूरत स्वभाव सब अलग अलग चीजें तो अलग अलग है लेकिन जैसे घर में सूप बनाना होता है रस बनाना होता है तो तरह तरह की सब्जी का रस निचोड़ लेते हैं ऐसे ये जो नाना पना दिख रहा है सृष्टि में इसका यदि रस निचोड़ा जाए इसकी सत निकाली जाए इसमें से जो इसका स्वाद है वो अलग कर लिया जाए तो नाम रूप से पृथक करने मात्र से ही सब में एक ही सत्र एक ही सत्य एक ही देश एक ही आनंद हम तुम सब बिल्कुल एक अखंड परिपूरक है तो मंत्र कहता है कि केवल एक शरीर में रहने वाला ही आत्मा नहीं है एक शरीर में रहकर काम करने वाला देखने वाला आत्मा नहीं है बल्कि यही एक आत्मा सर्वपुरवर्ती है पूरे ही अलग अलग है आत्मा एक है एक बार किसी ने एक महात्मा से प्रश्न किया कि अच्छा तुम सब जगह हो तो बताओ इस समय कलकत्ते में क्या हो रहा है बोले कि कलकत्ते के शरीर से हम कलकत्ते में जानते हैं यहाँ के शरीर से यहाँ का जानते हैं बोले कि यहाँ भी हम आंख से रूप देखते हैं नाक से नहीं देखते हैं नाक से गंध सुनते हैं हाँ? नाक से रूप नहीं देखते हैं जैसे अलग अलग कारण होते हैं अलग अलग चीज देखने के लिए वैसे अलग अलग जगह देखने के लिए अलग अलग करणी भी होते हैं करणी भी कारखाने का मैनेजर एक है एक कारखाने का मैनेजर एक है लेकिन मालिक तो सबका एक है तो हम चंद्रलोक में भी देखते हैं और चंद्रलोक वाले शरीर से कलकत्ते में देखते हैं कलकत्ते वाले शरीर से अमेरिका में देखते हैं अमेरिका वाले शरीर से लेकिन कोई विशेष ज्ञान से आत्मा का स्वरूप नहीं है ना ज्ञाता बना तो आत्मा का स्वरूप नहीं है इसलिए ये कलकत्ते का ज्ञान है ये बम्बई का ज्ञान है ये तो करण के अधीन करण का ज्ञान है और जो ज्ञान मात्र वस्तु है वो तो जो कलकत्ते में है वही चंद्रमा में है वही अमेरिका में है वही हिन्दुस्तान में है ज्ञान मात्र वस्तु तो सर्वत्र भरपूर है अच्छा तो आप जरा ध्यान दीजिए कि आप परमात्मा को पूरा मानते हैं कि अधूरा तो यदि परमात्मा को अंतर देश में मानते हैं बहिर्देश में नहीं तो अधूरा हो गया और देश में मानते हैं देश में नहीं तो भी अधूरा हो गया चांद के भीतर ईश्वर और चांद के बाहर नहीं ये क्या कल्पना है उस समाधि काल में परमेश्वर और विक्षेप काल में परमेश्वर नहीं ऐसा क्या मानते हो बोले मैं परमेश्वर यह नहीं ऐसा क्या मानता हूं तुम्हारा अधूरा ज्ञान असल में मैं पद का लक्ष्यार्थ यह पद का लक्ष्यार्थ जो पारमार्थिक सत्य है वो एक है और मैं और यह का जो भेद है वो कल के पहले क्या है असल में मैं यह का भेद ही नहीं है एक परमात्मा है एक परमार्थ है तो प्रतीक उपासक लोग जो होते हैं वो यह को प्रधान मानते हैं और मैं को गौ एक एक प्रक्रिया हुई ये भी बोला और अहंग्रह उपासक जो होते हैं वो मैं को प्रधान मानते हैं और यह को तो गौ तो सच क्या है तो सच ये है कि जो यह है जो वह है जो मैं है वो सब अद्वितीय एक यह वह मैं का भेद नहीं है इसलिए वेदांत की प्रक्रिया भी यदि दृश्य को छोड़ दे बिल्कुल कि चाहे जो हो सो हो तो अज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा अज्ञान किस तो दृश्य जो हो सो हो हम तो ब्रह्म है तो जो हो सो हो क्या हुआ माने तुम जानते नहीं यही ना तो अज्ञान रहा ना दृश्य के बारे में जब तुमने विचार से अपने को बचाया कतरा दिया एक आदमी की समाधि लगी हो महर्षि पतंजलि के पास गया स्वयं महर्षि पतंजलि ने शिक्षा दे करके उसकी समाधि लगवाई तो वो पहले जैमिनी के का शिष्य था जैमिनी ने उसको कर्म करवा करके स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग बताया तो उसने कहा कि स्वर्ग तो कर्म का फल है वो नित्य कैसे हो सकता है और देश विशेष है तो वो पूरा कैसे हो सकता है, है? और मजदूरी में मिला हुआ मजा है वो हमेशा कैसे रह सकता है तो जैमिनी ने कहा कि हाँ बेटा तुमने बिल्कुल ठीक कहा मजदूरी से जो मजा मिला वो हमेशा नहीं मिलेगा और एक जगह रहने पर ही जो मजा मिला वो दूसरी जगह जाने पर नहीं रहेगा और एक कर्म के फल स्वरूप जो मिलता है सो नहीं मिलेगा अब तुम हमारे कर्म से जो कुछ मिलता है उसकी खोट तुम समझ गए तो वैराग्य हो गया तुमको अब ये नहीं अब तो जाओ तुम पतंजलि के पास हो समाधि लगाओ मतलब समाधि ने शिक्षा पतंजलि ने समाधि लगाने की शिक्षा दी और वो तुरंत वृत्ति निरोध करके और दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित हो गया और वो जो निरोध था वो संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात हो गया सभी से निर्बीज हो गया सविकल्प से निर्विकल्प हो गया वो लंबी समाधि लगी अब तो वो समाधि में रहने लगा फिर बहुत बरस के बाद व्याकुल होकर के आया और पतंजलि के चरणों में गिर गया बोला कि महाराज वो समाधि हमेशा तो रहती नहीं है टूट जाती है बोले कि अरे दावरे तूने अभ्यास करके एक समाधि की स्थिति उत्पन्न की है तो वो नित्य कैसे रहेगी तब बोले कि फिर मैं नित्य दृष्टा कैसे रहूंगा बारम्बार वृत्ति का दायित्व हो जाता है यही तो हमारी शिकायत है कि चौबीसों घंटे हमारी वृत्ति ब्रह्माकार नहीं रहती चौबीसों घंटे हमारी वृत्ति दृष्टा में नहीं रहती दृश्य में आती है यही तो हमारी शिकायत है तो पतंजलि ने कहा कि अभ्यास से जो स्थिति होगी सिद्धि होगी वो हमेशा कैसे रहेगी भाई हैं? यदि निरोध काल में ही तुम दृष्टा स्वरूप में अवस्थित रहते हो और वृत्ति प्रारूप काल में अन्य अन्य से तादात्म्य अपन्न हो जाते हो तो तुम्हारे दो हुआ ना एक अन्य हुआ एक तुम हुए बोले हाँ महाराज गलती तो यही मालूम पड़ती है कि गलती यही है कि जब तक दृश्य की सत्ता बनी रहेगी तब तक बारम्बार दृष्टा दृश्य को देखेगा और उसके साथ एक हो जाएगा तो पहले भी दृष्टा दृश्य को देख करके ही साथ तादात्म्यापन्न हुआ है साथ बेटा अब हमसे काम नहीं चलेगा तुम्हारा बोले अब क्या करें महाराज साहब तो व्यास के पास जाए तो पतंजलि ने व्यास के पास तो व्यास ने कहा कि भले मानुष तुम ये तो सोचते हो कि मैं कौन मैं कौन मैं कौन ये तो कभी सोचते ही नहीं कि ये दृश्य क्या दृश्य क्या दृश्य क्या अरे विचार पूरा तो तब होगा ना जब सोहम कथम जातम पुरुष कर्ता को विद्यते विचार स्वयं ही दृश्य वेदांत विचार तो तब होगा ना कि ये दृष्टि क्या है तो क्या है महाराज तो बोले कि ये जो तुमको दृश्य दिखाई पड़ रहा है नाम रूप आत्मा ये जन्माद्य जता तद विजिज्ञात स्व यतो वायुमान भूतानि जायन्ते जेन जातानि जीवन्ति तब विजिज्ञास ब्रह्म ये इस शरीर में इस शरीर में इस शरीर में बाहर भीतर जितने भी जहाँ बहुत का बह यहाँ वहाँ जो भी दृश्य मालूम पड़ता है इस दृश्य की उत्पत्ति जिससे है स्थिति जिसमें है गति जिसमें है लय जिसमें है, हैं? इसके अभिन्न निमित्तों का आदान कारण की जिज्ञासा करो बेटा है कि जो स्वयं सर्वज्ञ हो करके इसको बनाता है और उसमें रहता है और इसको बिगाड़ता है वो कौन है बोले अरे वो तो बिल्कुल सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म है और वो तो चैतन्य मात्र है बोले बेटा तो चैतन्य मात्र और चैतन्य मात्र में भेद कैसे होगा सत्यमती है ना जो ये आत्मा है वही संपूर्ण दृश्य का विवर्ती अधिष्ठान अधिष्ठान का बाधित है बाधित अधिष्ठान अधिष्ठान का बाधित अधिष्ठानता वाला जो तप है जिसमें अधिष्ठानता भी बाधित ऐसा जो सत है जिसमें अधिष्ठान का भी बाधित ऐसा जो चिन्ह मात्र है वो तुम्हारा ब्रह्म मात्र आत्मा और वो चिन्ह मात्र एक है और ये दृश्य तो केवल प्रातिभाषिक है जो ज्ञाता का पारमार्थिक रूप है सर्वज्ञ का जो पारमार्थिक रूप है अल्पज्ञ का जो पारमार्थिक रूप है अल्प और सर्व का जो पारमार्थिक रूप है वो परमात्मा है उसमें द्वैत और भेद का है ना भेद का कोई कोई चिन्ह कोई दाग हाँ, कोई कलंक कोई लाछन जैसे चंद्रमा में जैसे लाछन होता है वैसे ब्रह्म में अविद्या रूप लाछन से युक्त है ना कोई अंश नहीं है तो वेदांत कहता है कि अविद्यापी अविद्याम एवासित्वा प्रकल्प है अविद्या में बैठकर अविद्या की कल्पना की जाती है हाँ। ब्रह्म दृष्टिया विद्यम नाती भक्ति भविष्य ब्रह्म दृष्टि से अविद्या न कभी थी न है न होगी अविद्या नहीं तो दृश्य प्रपंच नहीं तो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है ना इसीलिए महात्मा लोग है ना कोई शालग्राम के रूप में ईश्वर की पूजा करे तो भी कहते हैं कि भाव है इसका और मैं के रूप में मैं के रूप में मैं जो है वो परमात्मा की उपासना का यदि प्रतीक हो सकता है तो यह परमात्मा की उपासना का प्रतीक क्यों नहीं हो सकता और यदि तब परमात्मा की प्रकाश उपासना का प्रतीक हो सकता है कि सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा और अंत में परमात्मा तो जो अब है वो क्यों नहीं हो सकता है ना जो वहाँ है बैतुल खादी में वो यदि उपासना का प्रतीक हो सकता है तो जो यहाँ है है ना गुरु गुरु पति पिता माता आदि ये क्यों नहीं परमात्मा के प्रतीक हो सकते तो कहने का अभिप्राय ये हुआ है ना कि जब अज्ञान दशा में कल्पित प्रतीक को लेकर के ही उपासना करनी है तो चाहे मुसलमान ईसाई और आर्य समाजियों की तरह वह निराकार ईश्वर की उपासना करो है ना और चाहे साकारवादी भक्तों की तरह यह की उपासना करो चाहे उपासना जादी सोहम सोहम अहम की उपासना करो है जब सारी उपासनाओं की गति विधि एक ही कक्षा में है एक ही कक्षा में है तो नारायण क्योंकि जो अपना सत स्वरूप परमात्मा है सर्वात्मा उसमें भेद नाम की कोई चीज ही नहीं है तो ये छोटा और ये बड़ा है ना जो तीर्थंकर की उपासना करते हैं वो तीर्थंकर की करें है ना जो पैगंबर की करते हैं वो पैगंबर की करें जो निराकार की करते हैं वो निराकार की करें जो साकार की करते हैं वो साकार की करें है ना जो अहम अहम अहम की उपासना करते हैं वो अहम की करें सत्य सनातन धर्म हाँ। शाश्वत जो धर्म है सनातन जो धर्म है वेद वेदांत का जो धर्म है उसमें सब संप्रदाय निराकार साकार निर्गुण सगुण जितनी उपासना है जितनी प्रक्रिया है जितने विचार हैं सनातन धर्म उसको कहते हैं जिसके अंदर सबका सन्निवेश सबका सन्निवेश हो जाता है तो ये मंत्र देखो ईश्वर का रूप बताता है कि वो सर्वात्मा है हंस सूची साध नारायण वो कौन है तब वो सूर्य के रूप में पवित्र लोक में प्रकाशित हो रहा है सुचिषद दिविषद हंस सुचिषद सूची माने दिव्य दिव्य लोक में जीव लोक में वो सूर्य के रूप में प्रकाशित हो रहा है आदित्य वर्णन समता परस्ता अपना आत्मा सूर्यवत प्रकाशमान है कहा हाँ, हृदयाकाश में हृदयाकाश में हृदयाकाश करता का निर्मल हाँ, निर्मल माने शब्द और अर्थ से रहित जो हृदयाकाश स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप स्वयं प्रकाश वसु अंतरिक्ष साध वही वसु है वसु तोये धने अणु बस वाक सबको अपने अंदर स्थान देता है और सबको सत्ता स्फूर्ति देता है सत्ता स्फूर्ति माने ये चीज है और मालूम पड़ती है तो होने का नाम तो सत्ता है और स्फूर्ति का नाम मालूम पड़ना हो कोई चीज है और मालूम पड़ती है ये बात जिससे जिससे सिद्ध होती है ना उसका नाम आत्मा उसका नाम परमात्मा वसु अंतरिक्षता जो कहाँ रहता है वो अंतरिक्षता वसुहु वसु वायु वसुवायु है कहाँ रहता है बोले अंतरिक्ष सद जैसे हंस सूर्य है वो कहाँ रहता है सूची सत पवित्र जुलोक में वैसे वसु ये वायु देवता कहाँ रहते हैं जो सबके प्राण बन करके सबकी सांस बन करके रहते हैं बोले अंतरिक्ष सद हवा अंतरिक्ष में चलती है ना अंतरिक्ष और ये परमात्मा कहाँ रहते हैं बोले अंतरिक्ष में ये अंतरिक्षा शब्द है बोला अंतरिक्षा ई को बड़ी कर दो अंत ईक्षा ईक्षणम अंतर्दृष्टि हाँ, अंतर्दृष्टि में ये रहते हैं अंतर्दृष्टि एक एक ग्रंथ है सिद्धांत दर्शन तो कहते हैं कि व्यास जी ने दो दर्शन लिखे हैं एक ब्रह्म दर्शन वेदांत दर्शन और एक सिद्धांत दर्शन बोले भाई दोनों में फर्क क्या है तो दोनों में फर्क ये है कि वेदांत के मंत्रों का वेद के मंत्रों का तात्पर्य संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य ब्रह्म और आत्मा की एकता के निरूपण में कैसे है विरोध परिहार और अविरोध आदि के द्वारा कैसे दिखाया जाए इसके लिए तो वेदांत दर्शन है लेकिन केवल अनुभव के द्वारा ही ब्रह्म आत्मा की एकता बताई जाए इसके लिए सिद्धांत दर्शन है उसमें शास्त्र का पांडित्य उसमें सांख्य का खंडन नहीं है आ, हाँ, उसमें बौद्धों का खंडन नहीं है उसमें नई आयुधों का खंडन नहीं है केवल अपनी प्रक्रिया और अपने सिद्धांत का निरूपण है तो बोले उसमें अंतरिक्षा शब्द का प्रयोग आया हुआ है इसलिए याद आ गई हो वो कहते हैं कि श्रुति उपपत्ति और अंतरिक्षा परमात्मा के साक्षात्कार में तीन साधन है प्रारंभ में श्रवण और फिर युक्ति उपपत्ति उपपत्ति माने युक्तियों के द्वारा लोक की दृष्टि से लोह जैसे ऐसे समझो कि श्रुति ये है कि वाचारम्भम विकारो नाम धयम मृत्यु के सेव सत्यम हम्म। तो अब यथा एक न मृत पिंड न विज्ञाते न सर्वम मृणमयम विज्ञातम भवती ये उपपत्ति हो गई जुक्ति हो गई एक अस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भवती ये प्रतिज्ञा हो गई एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होता है और एक मिट्टी का जला जान लेने से सब जान लिया जाता है ये दृष्टांत हुआ मिट्टी का सब विकार जान लिया जाता है तो ये युक्ति हुई युक्ति भी श्रौत होनी चाहिए श्रुति अनुग्रहित युक्ति का ही प्रामाण्य होता है आपको एक बात सुनावे ये अक्कल जो ज्यादा लोग अक्कल लगाते हैं ना यदि कोई आके आज विज्ञान से धर्म सिद्ध कर दे वो नहीं मानना क्योंकि विज्ञान जिसको सिद्ध करेगा उसको विज्ञान काट भी देगा जिसके हाथ में सिद्ध करना होता है उसके हाथ में काटना भी होता है यदि बुद्धि से कोई वस्तु सिद्ध होगी तो बुद्धि की किसी अवस्था में वो कट भी जाएगी और प्रमाण उसको कहा जाता है जो अन्य प्रमाण से ज्ञात न हो और अन्य प्रमाण से बाधित भी न हो ये बड़ी इसकी कला है वो है ना जैसे देखो नाक गंध में प्रमाण है ये बात कैसे सिद्ध होगी तो गंध किसी दूसरे प्रमाण से नहीं मालूम पड़ता आंख से गंध नहीं मालूम पड़ता कान से गंध नहीं मालूम पड़ता त्वचा से गंध नहीं मालूम पड़ता जीवा से गंध नहीं मालूम पड़ता केवल नाक से मालूम पड़ता है तो गंध दूसरे प्रमाण से माने आंख कान आदि से अज्ञात है और आंख कान नाक कह दे की गंध नहीं है तो उनके ना कहने से असिद्ध नहीं होता है तो वेदांत प्रमाण है इसका क्या अर्थ हुआ कि जो चीज आंख से कान से नाक से मन से मन ध्यान से ध्यान से युक्ति से साक्षी भाष रूप से जो किसी भी दूसरी तरह से मालूम न पड़े हैं? और किसी दूसरी तरह से कटे भी नहीं आंख से कान से नाक से ध्यान से और बुद्धि से कटे भी नहीं है ना ऐसी अनिर्वचनीय पदार्थ के संबंध में वेदांत प्रमाण होता है ब्रह्मा ब्रह्म और आत्मा की एकता वेदांत से ही सिद्ध होती है दूसरा कोई प्रमाण इसको काट नहीं सकता और दूसरा कोई प्रमाण इसको सिद्ध नहीं कर सकता तो अंतरिक्षा हाँ, अंतरिक्षा माने अन्य इच्छा छोड़ करके अन्य का जो दर्शन है ये अन्य है ये अन्य है ये अन्य है ये दर्शन छोड़ करके स्वरूप का दर्शन करो तो स्वरूप का दर्शन कैसे करें लोग कह तो देते हैं कि कर लो भाई अपने आप को देखो तो अगर ये देखना हो कि नाक हमारी नुकीली है कि चिपटी है तब तो शीशे में देख सकते हो ये हाथ लगा के देख सकते हो छू सकते हो अब अपने आत्मा को कैसे देख लें तो बोले कि पहले ये निश्चय करो कि आत्मा क्या है अनात्मा क्या है जो जो इसमें भी बड़ी लीला है कि अगर तुम कहोगे कि हमसे जुदा है ये तो वो तुम्हारा दुश्मन बना रहेगा आपने वेदांत में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ब्रह्म तम परादात जो नेत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रम तम परादात जो नेत्रात्मन क्षत्रम वेद देवास्तम जो नेत्रात्मनो देवान वेद वेदास्तम जो नेत्रात्मनो वेदान वेद मंत्र दूसरे ढंग से है हम तो कोई कोई शब्द उसका बोल देते हैं सर्वम तम परादात यो नेत्रात्मण सर्वम वेद यदि तुम ये सोचोगे कि ये हमसे अलग है तो वो तुम्हारा दुश्मन बना बन के खड़ा हो जाएगा वे हमसे अलग है ऐसे नहीं सोचा जाता जब तुम ही सोच के देह से अलग करोगे तो ऐसा ही होगा कि जैसे थोड़ी देर बेटे पर गुस्सा आया और उसको कह दिया कि घर से निकल जा और जब वो घंटे दो घंटे के लिए कहीं चला गया तो रोने लगे कि हाय हाय मैंने क्यों निकाल दिया है ना हम एक बाप को जानते हैं उसको एक दिन आया अपने बेटे पर गुस्सा हाँ। तो बोला कि निकल जाओगे निकल गया निकल गया अब तो महाराज एक महीना हो गया अब ज्योति क्या जाता है कैसे मिलेगा बेटा तांत्रिक के पास जाता है कैसे मिलेगा बेटा तो कोई तांत्रिक बताता है बिस्तर पर मत सो तख्ते पर सो चटाई बिछा के तब लौट जाओगे कोई कहता है माला जपो कोई कहता है पूजा करवाओ अब वही बेटा है जिसको घर से निकाल दिया तो तुम अगर घर से निकालोगे तो फिर घर में रख भी सकोगे बोला ये बड़ी विचित्र बात है असल में दृष्टा से दृश्य अलग है ही नहीं दृश्य से दृष्टा का विवेक किया जाता है कि मैं दृश्य से अलग न्यारा हूँ न्यारा हूँ माने विरक्षा हूँ जैसे दृश्य इंद्रियक है वैसे मैं इंद्रियक इंद्रियक नहीं हूँ जैसे दृश्य साक्षी भाव से है वैसे मैं साक्षी भाव से नहीं हूँ ये भी सीखना पड़ता है बोला तो कोई सज्जन ऐसे आए बोले भाई आपकी पुदगल वाली बात तो आपने सुना ही होगा पुदगल वाले को पुदगल तो पुदगल मुझसे न्यारा है पुदगल मुझसे न्यारा है है ना तो ठीक है पुदगल तुमसे न्यारा है तो तुम्हारा दुश्मन है वो किसी न किसी रूप में असिद्ध जाएगा तो सिद्ध आ जाएगा स्थूल जाएगा तो सूक्ष्म आ जाएगा अदिव्य जाएगा तो दिव्य आ जाएगा वो तो रूप बदल के तुमको फंसा देगा उदगल जो है रूपांतरित होकर के फंसा देगा तो वेदांत की प्रक्रिया ये नहीं है कि देह मुझसे न्यारा है वेदांत की प्रक्रिया है देह से मैं न्यारा हूँ तो इसमें क्या हुआ तो जल्दी आदमी की समझ में नहीं आते ये बात हो है ना जल्दी नहीं समझ में आते अच्छा एक आदमी कहता है कि घड़ा मिट्टी से न्यारा है घड़ा मिट्टी से न्यारा है इसका क्या नतीजा निकलेगा और एक आदमी कहे कि घड़े से मिट्टी न्यारी है घड़े से मिट्टी न्यारी है इसका नतीजा क्या निकलेगा आप सोच के बताओ दोनों में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा मिट्टी के सिवाय तो घड़ा कुछ होता ही नहीं है इसलिए घड़ा नहीं बना था तब भी मिट्टी थी घड़ा बन गया तब भी मिट्टी है घड़ा फूट जाएगा तब भी मिट्टी होगी और यदि ये बात कही जाए कि मिट्टी से घड़ा न्यारा है तो क्या नतीजा निकलेगा घड़े से मिट्टी न्यारी हो, होगी तो घड़े को अपने अंदर मिला लेगी घड़े को छोड़ के अलग नहीं हो सकती मिट्टी ये नहीं कि घड़े से मिट्टी अलग हो जाए और घड़ा बाकी बचा रहे लेकिन घड़ा जब मिट्टी से अलग होगा तो मिट्टी से अलग होकर बना रहेगा तो घड़े से मिट्टी न्यारी है घड़े में केवल नाम रूप है गुण है धर्म है आकृति है घड़े का स्वभाव है मिट्टी उससे न्यारी हुई तो सब बाधित हो गया ना मिथ्या हो गया सब घड़े से मिट्टी के अलग होते ही घड़े का नाम रूप मिथ्या हो गया क्योंकि जब उसका अधिष्ठान ही अलग हो गया उसका उत्पादन ही अलग हुआ तो घड़ा रहेगा क्या वो तो मिथ्या हो गया केवल प्रतीति मात्र रह गया और यदि मिट्टी से घड़ा न्यारा होगा तो क्या होगा तो वो नाम रूप गुण धर्म अवस्था सहित है ना अपने कर्म सहित बना रहेगा घड़ा मिट्टी से अलग हो करके मुक्ति का दान नहीं कर सकता और मिट्टी घड़े से अलग होकर मुक्ति का दान कर सकती है ये तो दृष्टांत की बात समझाइयो काय के लिए दृष्टा से देह जा <laughs> रहा नहीं है बोला देह से दृष्टा न्यारा है ये बात समझने के लिए हम जानते हैं कि दस दस पांच पांच वर्ष से जो लोग वेदांत का स्वाध्याय करते हैं उनके ध्यान में भी इस बात का आना है ना सुगम नहीं है हाँ। तो देह से दृष्टा न्यारा है ये कहने से देह तो केवल नाम रूप रह गया तुच्छ हो गया जन्म और मृत्युशील हो गया दृश्य हो गया जड़ हो गया हम उससे असंग हो गए लेकिन दृष्टा से अलग यदि देह हो गया तो क्या हुआ वो तो बिल्कुल ज्यो का ज्यो माटी का धोधा बना रहेगा है? तो देह से दृष्टा को अलग करने से असंगता आती है वैराग्य आता है जैसे ईश्वर से प्रेम करने से देह और दैहिक भोगों से वैराग्य आता है वैसे एक एक और अड़चन आपको सुनाता हूँ वेदांत की बात तो सुनाऊंगा ही एक प्रतिबंध आपको सुनाता हूँ प्रतिबंध ये मैं में प्रेम स्वाभाविक है मैं में जो प्रीति है ना वो स्वाभाविक है तो जब हम सोचते हैं कि मैं ही हूँ तो मैं के साथ प्रेम तो बना ही रहता है तो प्रेम जो मैं के साथ जो प्रेम बना रहता है उससे वृत्ति बनी रहती है और वृत्ति बनी रहती है तो देह में मैं बैठा है देह के साथ भी प्रेम वैसे ही बना रहेगा लेकिन प्रेम यदि पहले देह में से प्रेम हटाना हो और ईश्वर के साथ प्रेम जोड़ दिया जाए तो देह में से प्रेम हटके असंगता आ जाएगी वैराग्य दोनों तरह से आता है देह से मैं को अलग करो तब भी देह से वैराग्य आवेगा और प्रीति को ईश्वर में जोड़ो तब भी देह से वैराग्य आवेगा दोनों वैराग्य के ही हेतु है दोनों तत्व ज्ञान नहीं है अच्छा ये तो आपको ध्यान में हो गई कि जब आप कहते हैं कि घड़ी मुझसे बाहर मैं से अलग घड़ी है तब आप मैं किसको बोलते हैं देह को बोलते हैं कि नहीं और जब आप बोलते हैं कि मुझ में खून रक्त तो आप देह को मैं बोलते हैं कि नहीं मेरे अंदर खून तो आप देह को मैं बोल करके तब खून को अंदर बोलते हैं ना और जब बोलते हैं मुझसे बाहर घड़ी तब देह को मैं बोलकर घड़ी को बाहर बोलते हैं तो यदि आप ऐसे सोचते हैं कि मुझ में परमात्मा कि मुझसे बाहर परमात्मा है ऐसे सोचते हैं कि ये परमात्मा तो देह को मैं मान के तो यह परमात्मा सोचते हैं ना और जब ये सोचते हैं कि यह नहीं यह परमात्मा तब भी देह को मैं मान के ही तो सोचते हैं मुझ में दृष्टा हो तब भी मैं दे और मुझसे बाहर कालग्राम हो तब भी मैं दे अरे मैं को तो देह से उठाना पड़ेगा देह से मैं को उठाने पर नाम रूप जो है वो तुच्छ हो जाएगा नाम रूप मिथ्या हो जाएगा नाम रूप अनिर्वचनीय हो जाएगा नहीं तो क्या भीतर क्या बाहर ये कई तो बात रहेगी ना तो अंतरिक्ष सब का अर्थ देखो अंतरिक्षा माने अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि दृष्टि अगर जागृत न हो आपको क्या बताऊं आपकी अंतर्दृष्टि इतनी बड़ी है कि उसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड आपकी अंतर्दृष्टि में समाये हुए हैं और एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश और कोटि कोटि ब्रह्मांड और सब ब्रह्मांडों में एक अहम तत्व एक तत्व एक प्रकृति तत्व है ना एक रुद्र तत्व एक हिरण्य गर्भ तत्व एक ईश्वर तत्व तो कोटि और ये सब कहा है का आपकी अंतर्दृष्टि में है आप वो दृढ़मात्र वस्तु हैं वो दृढ़मात्र वस्तु कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का उदय विलय जिस माया विशिष्ट परमेश्वर में होता है वो आपकी दृष्टि में आपकी दृष्टि के एक कोने में रहता है इतना बड़ा आपका दृढ़मात्र स्वरूप इतना बड़ा है तो अंतरिक्ष साधो नारायण वो कहा है हाँ, अंतरिक्ष में रहता है होता बेदिशा दो वो होता है होता माने अग्नि हो हाँ। देखो पहले बात हुई सूर्य के रूप में परमात्मा का वर्णन किया उसके बाद वायु के रूप में परमात्मा का वर्णन किया उसके बाद अग्नि के रूप में परमात्मा का वर्णन करते हैं होता हाँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हरे ब्रह्मादनौ ब्रह्मणाहुताम ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्मणा हुता होता होम करने वाला भी अग्नि है जिसमें होम किया जाता है सो तो भी अग्नि है और जो होम किया गया सो तो भी अग्नि है उसका प्रारंभ भी अग्नि है उसका अंत भी अग्नि है होता कहाँ बैठता है होता बन के कभी तो दिशा दीदी पर बैठता है ये अग्नि देवता कहाँ बैठते हैं वेदी तो पर वेदी शब्द का अर्थ पृथ्वी है वो वेदी धरती में बनती है ना वेदी बनाते हैं ना होम करने के लिए वेदी बनाते हैं तो वेदी क्या होती है कि मिट्टी की होती है तो मिट्टी से जुड़ा वेदी नहीं होती है तो अब ये वेदी पर बैठे हुए गार्भपथ्य अग्नि के रूप में स्वयं अग्निदेव ही है अतिथिर दुरोण सात अतिथि बन के आए अतिथि बन के आए बोले घर के कोने में बैठ गए तो अतिथि के रूप में भी अग्नि आता है शास्त्र में वर्णन है कि जैसे कभी आग जोर से स्टोव जलाते हैं और आग जोर से जलने लगती है ना तो डर लगता है कि नहीं आपको कि कहीं कपड़े में आग न लग जाए घर में आग न लग जाए ऐसे ही जो अतिथि आता है घर में इसको प्राचीन काल में बोलते थे अरे अतिथि नहीं है अग्नि है अग्नि इसको प्रसन्न करो कुछ होम करो इसके मुंह में कुछ डालो बोला इसके मुंह में कुछ डालो अगर ये खाली हाथ लौट जाएगा तो ये आग है जला देगा तो फिर वो कहा आता है कद्दूर तो घर के कोने में आता है अतिथिर ब्राह्मणों गृह यज्ञभूत प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणों गृह अग्नि होकर के प्रवेश करता है ये पहले परिषद में आया जमराज नहीं कहा हो जमराज ने जमराज ने कहा तेरे नचिकेता तू अतिथि अतिथि नहीं अग्नि होकर हमारे घर में आया है नाचिकेत है अग्नि है यदि मैं तेरी शांति नहीं करूंगा तो तू मेरा घर जला देगा हाँ, देखो आतिथ्य सेवा के लिए कितना कड़ा नियम होगा उस समय देखो न मोटर थी न रेल न हवाई जहाज लोग पैदल तो यात्रा करते थे अब पैदल कोई तीर्थ यात्रा करे तो कितनी बड़ी पोटली सिर पर लेके या कंधे पर लेके चले या ऊट लेके चले हैं तो तब ये नियम था कि जो लोग यात्रा करते हुए निकले वो जब तुम्हारे घर में से आवे तो उनको रोटी खिला के भेजना अतिथि सत्कार की महिमा बड़ी भारी थी तो उस अतिथि के रूप में कौन आता है स्वयं भगवान आते हैं वैश्वान रख और वैश्वान स्वयं भगवान अतिथि के रूप में आते हैं और अतिथि माने सोम होता है वो सोम वो कहा रहता है कि कलश में रहता है तो जल में जो सोम रस है ना वो परमात्मा है ये नहीं समझना कि समुद्र ही में परमात्मा है तुम्हारे घर में गिलास में जो जल है ना वो भी परमात्मा का स्वरूप है सोम रस से उपलक्ष्य संपूर्ण जल यज्ञ में यज्ञ में जो सोम रस तैयार करते हैं सो दुर्व शब्द का अर्थ घर का कोना भी है और गुरुण शब्द का अर्थ कलश भी है परमात्मा कहाँ रहता है बोले मृताद बरसाद व्योम साध जब तक परमात्मा सर्वात्मा है ये बोध नहीं होगा आधे ईश्वर को पकड़ के बैठे हो है ना जड़ अगर ईश्वर नहीं है खाली चेतन ही ईश्वर है तो वो आधा ईश्वर है बोला और यदि जड़ ही ईश्वर है वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जड़ ही सब कुछ है तो चैतन्य जो तुम्हारी आत्मा है वो बेकार गई वो आदि नहीं वो आदि नहीं तो जड़ को ईश्वर मानोगे तो आधा चेतन को ईश्वर मानोगे तो आधा और जब दोनों में एक ईश्वर को मानोगे तो क्या होगा जड़ और चेतन का भेद ही चला जाएगा तो बात मानने की नहीं है बात जानने की है जो लोग वेदांत दर्शन का स्वाध्याय करते हैं उनको ये बात मालूम है कि वाचस्पति मिश्र ने कहा अध्यास भाव से नहीं अभ्यास भाव से की टीका तो अहम अहम अहम ये तो आबाल वृद्ध पामर सबको स्पष्ट है तो इसका विचार क्यों करना बोले ये तो स्पष्ट है लेकिन इसकी पूर्णता स्पष्ट है क्या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कल्पना का आधार जो देश है वो देश हमारे हमारे चैतन्य आत्मा में कल्पित है ये मालूम है क्या पूर्णता मालूम है आत्मा की कर नहीं अच्छा तुमको मालूम है कि भूत भविष्य वर्तमान की कल्पना का आधार जो काल है है ना वो काल तुम्हारे आत्मा में कल्पित है तुम्हारा जन्म मरण नहीं है ये बात मालूम है क्या कहीं सो तो नहीं मालूम है तो अच्छा तो जितना ये दृश्य दिखाई पड़ता है, हैं? ये सब दृश्य तुम में ही उत्पन्न होता है स्थित है और नष्ट होता है, है? तो वो तुम में ही होता है ये तुमको मालूम है क्या क्या नहीं तो भले मानुष तो वैसे अहम के ज्ञान से क्या फायदा हुआ है? तुमने अपने आत्मा को परिपूर्ण नहीं जाना अविनाशी नहीं जाना अद्वय नहीं जाना है स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान सर्वावभाषक नहीं जाना अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम नहीं जाना है ना अहरस्वम अदीर्घम अनु नहीं जाना है अचिंत्यम अनिलयनम नहीं जाना अदृश्यम अनिलयनम अनुरूपम नहीं जाना तो वेदांत का फल क्या हुआ वेदांत जानने का फल क्या अधूरे आत्मा का ज्ञान था थोड़ी देर के लिए केवल है ना सो लेना बेहोश रह लेना समाधि लगा लेना क्या यही वेदांत ज्ञान का फल हुआ वेदांत ज्ञान का तो फल ये है कि बोलते चलते हंसते खेलते व्यवहार करते जक्षत क्रीडन रहा जक्षत क्रीडन रतिम विंदन इत्य श्रौषी न किम श्रुति पंचदशीकार कहते हैं कि अरे जिज्ञासु क्या सुनी ये श्रुति नहीं सुनी कौन सी जक्षत क्रीडन रतिम बिंदन खाते हुए खाते हुए खेलते हुए बिहार करते हुए है ना सोते हुए जागते हुए चलते हुए ज्ञानिना चरितुम चरितुम सक्यम सम्यक राज्य आदि लौकी काम राज्य करते हुए श्रीमद भागवत ने एक जगह आया सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्व में सर्वलोकाधिपत्यंज वेद शास्त्र विदर्भति क्या और सेनापति का काम कर रहा है ओ हुकुम दे रहा है सैको बम चलाओ बोले बोले कौरे का ज्ञानी है राज्य शासन कर रहा है है ना तो ज्ञानी है दंड नेतृत्व में वो जो फांसी की सजा दे रहा है लगाओ और दंड दे रहा भेजो जेल में तो बोले कौन है ज्ञानी है वो दूसरे को थोड़ी कर रहा है अपने आप को ही तो कर रहा है सर्वलोकाधिपत्यंज वेद शास्त्र विदर्हती सर्वलोकाधिपत्य तेरा तू इंद्र हो जा तो तू करुण हो जा तू कुबेर हो जा तू ब्रह्मा हो जा तू विष्णु हो जा तू शिव हो जा अपने संकल्प से सर्वलोकाधिपत्य कर रहा है तो ये तत्व ज्ञानी जी तत्व जो वर्णाश्रमी नहीं है उनको भी ज्ञान हो सकता है तो नाम लिया तो जारजी का कौन सा वर्ण था कौन सा आश्रम था और दासक नवी का कौन सा वर्ण था और कौन सा आश्रम था नाम लिया तो पूरे बिना ज्ञान नहीं होगा तुम कैसे कहते हो कि वर्णाश्रम के बिना भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है तो उत्तर में ये बात बताता है वो सूत्र अधिकरण नारायण जहाँ साधन का विचार है अरे उसमें पूर्व जन्म में दादा अब अनाधिकार से पृथ्वी का प्रवाह चल रहा है कर लिया होगा धर्म धर्म कर लिया होगा आश्रम धर्म जब इसका अंतकरण शुद्ध है और ब्रह्म के ग्रहण के योग्य है, है तो अब धर्म धर्म का तो फल उसको मिल रहा है अब धर्म पालन की अपेक्षा कहाँ है यदि किसी की बुद्धि यदि किसी की बुद्धि ब्रह्म को ग्रहण कर लेती है तो मान लो कि उसने पूर्व पूर्व जन्म में गर्णाश्रम धर्म का पालन कर लिया होगा गर्णाश्रम से जो गहर भूत ब्रह्म ज्ञानी और तो जैसे बच्चे का नाम लेके पुकारता है वो डर आता है जैसे आहूत शीघ्रम दर्शन नृत्यों में भी वही है और वो पैसा है जो जो सत्य है सत्य जो जो रेत है जो तो, तो वही है यज्ञ में वही है सत्य वचन में वही है जो मसंत आकाश में वही है जा भूजा ऋतजा ऋतम्रिया तो अब जा जो ये पानी में शंख सीप आदि पैदा होते हैं वो कौन है बोले वही है तो जो धरती में पैदा होते हैं घास घास के रूप में गेहूं के रूप में जल के रूप में ये कौन है अन्न कौन है बोले ब्रह्म है कर अब्रजा तो नदी नाले कौन है ये उपधियाँ कौन है बोले ब्रह्म है रूपाम बृहत अचल में वही अबाधित है वही सत्य है वही सत्य है नाम और रूप का भेद काल्पनिक है नाम और रूप का भेद प्राविभाषिक है है ना और सबका जो पारमार्थिक रूप है अपना जो सच्चा स्वरूप है वो ब्रह्म ही है हंसु सदुरंतर सद एकादेव सद अतिसुर दुरूण सद नृषद गर सद ऋत सद योग सद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रजा ऋता बृहत बृहत माने हम लोग लंबाई चढ़ाई की कल्पना करते हैं ना तो बोले भाई एक घड़ा रख दो यहाँ इस घड़े में जो पोल है तो छोटी है ना और सारे कमरे में जो हाल में जो है तो बड़ी है और हाल के जो बाहर है तो घड़े है तो बहुत विशाल है तो ये बड़ी छोटी जो विशालता में जो छोटी विशालता बड़ी विशालता का विकल्पना होती है ना तीन का खेल और दरवाजे का खेल दरवाजे में भी छेदे गए ना और कुंड में भी छेदे गए तो ये जो कल्पना होती है कि ये कुंड का छेद और ये दरवाजे का छेद ये दोनों छेद कहाँ कल्पित है और महाकाश में महाकाश में कल्पित है अच्छा महाकाश का कहीं ऊपर नीचे दाहिने बाएं और छोर मालूम पड़ता है कहीं उसका जो और छोर मिलेगा वो मानसिक हो जाए कल्पित जब हम कहेंगे कि इसके ऊपर आसमान नहीं नीचे नहीं दाएं नहीं बाएं नहीं तो काल्पनिक होगा ना तो ये आकाश की विशालता जिसमें छोटे और बड़े का भेद कल्पित होता है जिस आकाश में छोटे क्षुद्र और बड़े क्षुद्र का भेद कल्पित होता है वो आकाश जिस मन में कल्पित है उस मन का प्रकाशक अधिष्ठान है और एक सेकेंड और एक मिनट और एक युग और एक मनवंतर और एक कल्प और एक महाकल्प कहीं काल का एक फेर बनता है तो ये काल के जितने अवयव हैं वो सब जिस काल में कल्पित हैं वो काल जिस मन में कल्पित है उस मन का ये प्रकाशक अधिष्ठान है मन जिसकी उम्र की रखता है काल के अपरिच्छिन्न देश से अपरिच्छिन्न ये घड़ा है ये कपड़ा है ये भेज है ये लाउड स्पीकर है ये गड़ी है ये स्त्री है ये पुरुष है ये जो नाम रूप वस्तुओं का भेद जो दिखाई करता है ना ये जिस सत्ता में कल्पित है जड़ सत्ता में जिस जड़ सत्ता में कल्पित है उसका कहीं एक कोई मिलेगा बाएं चलो मिलेगा तो नहीं लेकिन मन में कल्पना होती है है ना तो ठीक है उस जड़ सत्य में जड़ सत्ता जिस मन में कल्पित है उस मन का जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है उसको वेदांत कहता है आत्मा उसको वेदांत कहता है ब्रह्म जिसमें जिसमें भेद नाम की वस्तु नहीं है जड़ चेतन का भेद नहीं है दृष्टा दृश्य का भेद नहीं है जड़ चेतन का भेद नहीं है सुख दुख का भेद नहीं है अपने पढ़ाई का भेद नहीं है जन्म मृत्यु का भेद नहीं है है ना जिसमें जीवन मुक्ति और विदय मुक्ति का भेद नहीं है जिसमें सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का भेद नहीं है है ना वेद मात्र ही जिसमें अब हुआ भाग रहा है ऐसा ये जो परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा है ना उसके सिवाय उसे उसको मिल रहा है ये रेशम है रेशम माने आजाद है ना अबाध्य माने किसी भी प्रमाण को उसके निश्चात का निश्चय नहीं किया जा सकता अबाध्य का है कि किसी यंत्र से किसी मंत्र से किसी तंत्र से किसी इंद्रिय से किसी ध्यान से किसी विज्ञान से किसी साक्षी के द्वारा क्योंकि साक्षी का अनुप्रयोग है किसी भी अनुभव की प्रणाली में उसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं किया जा सकता इसलिए उसको बोलते हैं अबाध्य अबाध्य माने अबाध्य के लिए यहाँ शब्द है रेताब है ना उसके सिवाय न नदी नाले हैं न उसके सिवाय धर्म और यज्ञ हैं न उसके सिवाय घास और पेड़ पौधे हैं न उसके सिवाय फोन बुलबुले हैं न उसके सिवाय आकाश है न उसके सिवाय दुर्ग आजादी है न उसके सिवाय का दानी है न उसके सिवाय मनुष्य है यही सर्वरूप में वही सूर्य के रूप में वही वायु के रूप में वही अग्नि के रूप में वही अतिथि के रूप में वही सर्व रूप में प्रकाशित हो रहा है और है प्रकाश मात्र तो एक नेता महाराज हमने तो इस ब्रह्म को जान दिया अब हम क्या करें तो बस तुमने ब्रह्म को तो जान लिया लेकिन क्या करें ये नहीं जाना बोले भगवान सच्ची बात तो हमें ये सच्ची बात बताई मेरे भारी अफसर है वो ऑफिस के एक विभाग है ना सरकार का डाकार विभाग उसके तो मेरे भारी अफसर है मेरे है ना अब तो लगाने कुछ कर होंगे बीस बरस की बात है हम दिल्ली से जब रवाना हुए तो स्टेशन पर आए थे गुरु के महाराज तो बिल्कुल गोदाम का अनुभव हो गया कि हम ब्राह्मण लेकिन इस बात को आपको बताया जाओ कि हम करें क्या हमने कहा आदि इसी की जिज्ञासा करें ब्रह्म की जिज्ञासा पूरी हो गई तो ये जो अज्ञात तुम्हारा जो अज्ञात कर्तव्य है कर्तव्य की अज्ञातता उसका ज्ञान प्राप्त करो और क्या करेंगे ये इसी की जिज्ञासा करो तो महाराज ये अपने को ग्रंथ ज्ञान लेने के बाद देह जीवन मुक्त रहे कि तो दग्ध रहे बोला और दुकान पर रहे कि तो जंगल में रहे ये सवाल हो सकता है क्या अपने को ग्रंथ ज्ञान लेने के बाद ये शरीर जो है ये दुकान में रहे कि जंगल में रहे ये सवाल शरीर के लिए कहाँ उठता है अरे जहाँ हो वही है जहाँ हो वही रहे बोले कि भाई इससे कौन कौन काम हो अगर काम कोई तो अच्छा बुरा थोड़ी होता है तो सब अभ्यस्त है जिस काम में लगा हो वही काम हो है ना एक को तो छोड़ दो किस मंत्र का जप करे बोले कि अभी तुम्हारा यही ख्याल है ना कि कौन मंत्र गढ़िया कौन मंत्र घटिया होता है अरे ये सब मंत्र एक ही कक्षा में होते हैं एक ही सब इष्ट का रूप एक ही सेना में छिपा हुआ है और सब मंत्र अक्षरों से ही बने हुए हैं और गुरु केवल वो होता है जो आत्मा को ब्रह्म से एक लिखा दे और दुनिया लिखाने वाले जो स्कूल स्कूल में मास्टर रहते हैं वो तो दुनिया को ही हैं तो परमार्थ का गुरु है जो आत्मा को ब्रह्म रखा दे और नारायण बोले कि फिर एक को बदल तो तो ब्रह्म ज्ञान हो गया और एक गुरु को बदल तो दूसरा बड़ा बदल बन बना दे है ना एक मंत्र खोल के दूसरे का जब करने लगे है ना तो दुकान में तो सिर्फ खाने पर ही आता है इकट्ठे करने पर नहीं आता है तो ऐसा काम करें जिससे इकट्ठा हो जाए नारायण इसी को बोलते हैं जैसे ये जिसको हम लोग बोलते हैं ना वासना क्षय मनोना और तत्व ज्ञान तो वासना जो जागृत काल में मालूम करती है वो बिल्कुल स्वप्नवत है बाधित है और मन जो मालूम करता है शरीर में सुरता है वो बिल्कुल स्वप्न में जैसे हजार आदमी आपस में जाते हैं तो सबके मन है कि नहीं मालूम करेगा ये कहेगा है ना समझ लो कि आपको क्या चुनाव है और उसमें चुनाव हो रहा हो और उस स्वतंत्र पार्टी का हो और एक कांग्रेस पार्टी का हो और एक कम्युनिस्ट हो और तीनों लड़ रहे हैं सपने में तीनों की लड़ाई हो रही है आपके मन में तो ये तीनों आपका ही मन है कि अलग अलग है वहां जो स्वतंत्र पार्टी का सदस्य है जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है ये आपका मन ही है कि जुदा जुदा एक ही मन देखो तीन होकर सपने में लड़ रहा है, है? ये जागृत अवस्था में भी नारायण अपने ही मन अपने ही मन अपने ही प्रकाश अपने ही चैतन्य है ना की हो करके मनोनाथ माने ये मन के तृप्त का जो जाग है ना ये नहीं कि कोई कांग्रेसी ना हो कोई कम्युनिस्ट ना हो कोई स्वतंत्र ना हो ये नहीं है ना तीनों ये जो ऐक्य का दर्शन है ना ये हमारा ही मन तीन रूप में भागता हुआ ही एक ही है जैसे देखो भारत की कोई प्रजा हो चाहे असम की हो और चाहे पंजाब की हो और चाहे केरल की हो पर भारत का भारतीय है ना भारतीय है ना इसी प्रकार हमारे ब्रह्म स्वरूप में भागती हुई कोई भी प्रजा कोई भी बच्चे ब्राह्म ही है है ना ब्राह्म ही है तो अब ये मनोनाथ हो गया मनोनाथ कैसे हो गया तो वो तीनों सदस्य जो है वो मनस्कल्पित ही है हाँ, इसका नाम हो गया मनोनाथ और वासना पूर्ति हुई भी मैं न वासना वाला और न वासना का कोई विषय वो तो स्वप्रवत बात रही है एक आदमी स्वप्न में हमने देखा एक आदमी काम दस जो है वो किसी स्त्री के लिए व्याकुल हो रहा है तो न वहाँ स्त्री है न वहाँ कामी पुरुष है हमारा मन ही है ना दोनों हमारा मन ही दोनों बना हुआ है तो वहां वासना क्या हुई वहां न विषय है न विषयी है विषय और विषय के रूप में हमारा मन बना हुआ है, तो वहां वासना बाधित है कि नहीं जहां विषय और विषयी दो नहीं है वहां वासना बाधित है दुख कब तक देती है तो जब तक उसके बाधितत्व का ज्ञान नहीं है तो महाराज अपने जीवन में तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान हुआ कि जागृत स्वप्न सुशुक्ति जो है नारायण तीनों और तीनों की समस्ति मन दुनिया में जिस जिसको जागृत स्वप्न सुशुक्ति होती है सब है ना और एक शरीर में जो जागृत स्वप्न सुशुक्ति होती है सब और सब जिसके शरीर में जागृत स्वप्न सुशुक्ति होती है सो और उसका अभाव सारा का सारा अपने स्वरूप से जुड़ा नहीं है अपने स्वरूप से जुड़ा नहीं है नारायण तो इसी को बोलते हैं बाधित होना बाधित होना माने प्रतीत होते हुए भी प्रतीत होते हुए भी प्रमाण से उसका शुद्ध नहीं होना का शुद्ध नहीं होना तो एक अनंत अपरिच्छिन्न ब्रह्म में ये जो प्रपंच भाग रहा है ये भागते हुए भी ये वस्तुता नहीं है सत्यता नहीं है है ना तत्वता नहीं है लेकिन इसके विचार की प्रणाली ये नहीं है कि ये हमसे जुड़ा है है ना हाँ, ये प्रणाली नहीं है हाँ। पहले अपने को विवेक करने के लिए विश्लेषण करने के लिए गणित सीखने के लिए उससे अपने को अलग किया जाता है और अपना अलग स्वरूप जो है वो ब्रह्म है और ब्रह्म में परिच्छिन्नता जो है वो बाधित है इसलिए अपने स्वरूप से ज्यादा एक नहीं है और हाँ, पश्यन्नात्मन्मायया